और ये वो लोग हैं कि अगर कभी कोई बेहयाई का काम कर भी बैठते हैं या किसी और तरह अपनी जान पर जुल्म कर गुजरते हैं तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और उसके नतीजे में अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं और अल्लाह के सिवा है भी कौन जो गुनाहों की मुआफ़ी दे और ये अपने किए पर जानते बूझते इसरार नहीं करते